परमात्मा का स्मरण करें तीन बार ओम का लंबा उच्चारण ओ अध्यात्म की जिज्ञासा वाले सभी साधक महानुभाव ध्यान की विधि इस विषय में थोड़ी आवाज तेज कर हल्की सी ध्यान क्या होता है और उपासना क्या है ठीक है उपासना भी एक ध्यान पद्धति है वैदिक ध्यान पद्धति है महर्षि दयानंद ने प्रारंभ में उन मंत्रों का पाठ मात्र हम उपासना संध्या समझते हैं उसमें जब कुछ दिनों बाद मन नहीं लगता तो अर्थ सहित संध्या करने का प्रयास करते हैं उसमें भी कुछ दिनों बाद एक यंत्रवत जड़ता सी आ जाती है वही मंत्र वही अर्थ कुछ प्रभाव उसका होता है कई व्यक्ति इसका अच्छा लाभ उठा लेते हैं लेकिन कुछ को ये प्रक्रिया व्यर्थ लगने लगती है इस प्रक्रिया में हम कुछ मंत्रों को बोलते हैं उनके अर्थ का विचार करते हैं ये मंत्रों का बोलना भी जप की तरह ही है जप में हम कुछ शब्दों को या मंत्रों को बार बार उच्चारित करते हैं मन में बोलते हैं वाणी से बोलते हैं और उसके साथ अर्थ की भावना भी करते हैं शब्दों या मंत्रों के माध्यम से उपासना कैसे की जाती है उनके द्वारा मन पर संस्कार कैसे डाले जाते हैं उसके द्वारा आध्यात्मिक मार्ग कैसे प्रशस्त होता है कैसे प्रशस्त हो सके इसके लिए योग दर्शन में एक सूत्र दिया तपस तदर्थ भावनम तप तत् अर्थ भावनम उसका जप करना ओम का और इसी प्रकार से पवित्र मंत्रों का जप करना और अर्थ की भावना करना दो भाग हैं यहां पर एक शब्द या मंत्र का उच्चारण और दूसरा है अर्थ की भावना हमें यह ध्यान देना है दोनों में से वास्तव में किससे लाभ है किससे अधिक लाभ है ऋषियों ने जब की प्रक्रिया बताई जिस प्रयोजन के लिए बताई वो प्रयोजन कैसे पूर्ण होता है यदि केवल शब्द का उच्चारण मंत्र का उच्चारण ही अभीष्ट फल की उपलब्धि करा देता तो अर्थ भावना का कोई प्रयोजन नहीं था और यदि अर्थ की भावना ही अभिष्ट की सिद्धि करा देती सबको तो शब्द या मंत्र का उच्चारण व्यर्थ है महर्षि पतंजलि जब दोनों बातों को कहते हैं तो इसका अर्थ है दोनों की महत्ता है दोनों की आवश्यकता है किसी शब्द का उच्चारण हम क्यों करते हैं उससे हमें क्या लाभ होता है जो अर्थ की भावना पर केंद्रित नहीं होते हैं उनमें ये प्रवृत्ति देखी जाती है कि जब करें और उस जप से बहुत सी तरंगों की कल्पना कामना दृष्टि वो बना लेते हैं इन शब्दों के उच्चारण से तरंगे निकलती हैं उससे हमें लाभ होता है अर्थ का चिंतन वो बिल्कुल नहीं करते ये ठीक है कि शब्द उच्चारित होगा तो उसकी कुछ तरंगे भी होंगी ध्वनि तरंगे होंगी उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है किंतु शब्द या मंत्र का उच्चारण केवल इसलिए नहीं किया जाता कि उसकी तरंगों का प्रभाव हमारे मस्तिष्क या शरीर पर कुछ पड़ेगा वो अपनी जगह होते हुए भी अर्थ की भावना कही जा रही है यदि ये तरंगों ध्वनि तरंगों प्रभावों को ही लक्षित करना होता तो केवल का कथन वहां नहीं होता जो केवल शब्द के उच्चारण में ही सार्थकता समझते हैं उनकी फिर प्रवृत्ति उसी ओर रहती है वो उसे ही प्रधान समझते हैं वो शब्द के उच्चारण को इतना महत्व देते हैं कि वो तरह तरह से शब्द का उच्चारण करते हैं उसकी संख्या की गणना करने लगते हैं गणना के लिए माला आदि का सहारा लेते हैं अथवा लिखने का सहारा लेते हैं हजारों लाखों करोड़ों बार गणनाएं करते जाते हैं प्रतिदिन की गणना करते करते महीने वर्ष की भी करते हैं चरण ले लेते हैं ऐसी कुछ कामना कि मैं इतने जप करूंगा इस बार साधना एक महीने की है एक सप्ताह की है इतने इतने जप मैंने कर लिए और कई वर्षों की साधना के बाद वो इसे अपनी सफलता के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं कि मैं इतने जप कर चुका हूं इतने मंत्र गायत्री मंत्र या ओम आदि को बोल चुका हूं ये किस बात का द्योतक है कि वो शब्द पे अधिक केंद्रित हो जाते हैं शब्द की आवश्यकता है लेकिन कितनी आवश्यकता है और कब तक आवश्यकता है ये साधक को समझना चाहिए और अर्थ की भावना भी समझनी चाहिए जब तीन तरह से करते हैं एक बोल करके अच्छी तरह बोल करके प्रारंभिक साधकों को यह बहुत अच्छा लगता है इससे मन उनका बहुत एकाग्र होता है अन्य विषय जो आते रहते हैं उससे वो बच जाता है बाहर की ध्वनियों से विचारों से प्रारंभिक साधक के लिए बोल के करना आवश्यक है अच्छा है लेकिन जैसे जैसे साधक कुछ गंभीरता में जाता है उसे ये बोलना बाधक लगने लगता है जोर से बोलना ये स्वतः होगा जैसे जैसे गंभीरता आएगी जैसे जैसे अर्थ चिंतन की प्रधानता बनने लगेगी जैसे जैसे अर्थ की भावना और उससे आने वाले आनंद और लाभ को साधक अनुभव करने लगेगा तो अर्थ की भावना पर अधिक झुकता चला जाएगा और जैसे जैसे अर्थ की भावना की तरफ झुकेगा वैसे वैसे शब्द का उच्चारण उसकी ऊंचाई कम होती चली जाएगी तो दूसरा होता है उपांशु जल फोटो को हिला करके बिल्कुल इतना बोलते हैं कि स्वयं को सुनाई दे सके बिल्कुल धीरे धीरे ये भी जब है लेकिन इसमें भी अभी शब्द है शरीर की क्रिया है वो हिलते हैं जीप चलती है जब साधक और अर्थ की भावना पर केंद्रित होने लग जाता है उसे ये उपांशु जब भी बाधक लगने लगता है उसके होठ बंद हो जाएंगे उसकी जीप चलनी बंद हो जाएगी फिर भी वो ये समझेगा अनुभव करेगा कि मेरा जब पहले की अपेक्षा अधिक अच्छा चल रहा है लेकिन प्रारंभिक साधक को यदि ऐसे कह दिया जाए उपांशु जप या मानसिक जप के लिए उसे तो प्रतीत होगा कि इसमें तो एकाग्रता ही नहीं बन पा रही उसको कुछ विषय चाहिए स्थूल आधार चाहिए वो बोल के चक्कर मनुस्मृति में जहां जपों की जपों का वर्णन आता है वो मानसिक जप को ही सर्वश्रेष्ठ माना है वो ही परम तप है जब और साथ की भावना हम करते हैं की भावना भी शब्द की उच्चारण की प्रधानता हमारे में रहती है उन लोगों से तो अच्छा है जो केवल शब्द का उच्चारण करते हैं किंतु फिर भी जब की प्रधानता शब्द की प्रधानता हमारे में बनी रहती है अर्थ निसंदेह कम रहेगा पंखों को बंद ही रखिए बंद करवाए गए जिस समय उपांशु जब चल रहा है और अर्थ की भावना भी चल रही है वहां अच्छे स्तर पर भावना भी चल रही है लेकिन अभी उतनी प्रबल नहीं है और जब मानसिक जब करने लगता है तब अर्थ की भावना और अच्छी हो जाती है मन में केवल शब्द बोलता रहता है प्रक्रिया स्थूल से सूक्ष्म की तरफ है शब्द से अर्थ की तरफ है शब्द गौण होता जाएगा अर्थ प्रधान होता जाएगा इन तीनों प्रक्रियाओं में भी आप अंतर देखेंगे कोई व्यक्ति बहुत तीव्रता से शब्द का उच्चारण करता है और बहुत ऊंचे स्वर से एक के बाद एक एक जो थोड़ी अच्छी साधना करने लगेंगे वो शब्द भले ही बोलें लेकिन वो धीरे धीरे बोलने लगेंगे गति कम हो जाएगी जो शब्द को ही जब समझते हैं उनको ये चिंता रहती है मैं कितने जब कर पाया पांच मिनट में दस मिनट में आधा घंटे में कितना पुरुषार्थ हुआ वो संख्या पे शब्द की संख्या पे केंद्रित कर लेते हैं लेकिन जिसे ये बोध हो जाता है कि अर्थ की भावना मुख्य है उसके लिए संख्या गौण हो जाती है नगण्य हो जाती है वो ये नहीं देखता कि मैंने 10 मिनट में कितनी बार जप किया वो देखता है मेरे अर्थ की भावना कितनी गहरी पड़ी जब साधक को ये पता लगता है ये समझ आ जाती है कि ध्यान और उपासना अंतकरण पर अच्छे संस्कार डालने के लिए है और कुछ संस्कारों को क्षीण करने के लिए है तो उसे ये भी बोध रहता है कि शब्द के उच्चारण से संस्कार बहुत कम पड़ते हैं अर्थ की भावना से संस्कार तो वो इस बात से अपने जप की गुणवत्ता देखता है कि आज छूट जाएगी उसकी तो बोल कर रहे हैं उनमें भी कोई एक मिनट में साठ भी बोल सकता है कोई तीस भी बोल सकता है कोई पांच भी बोल सकता है और कोई केवल एक बार भी ओम का उच्चारण करेगा कभी भी ऐसा नहीं समझना कि मैंने एक ही बार ओम का उच्चारण किया तो मैंने कुछ कम सफलता प्राप्त की और किसी ने साठ बार ओम का उच्चारण कर लिया तो वो मेरे से आगे चला गया शब्द पे बिल्कुल केंद्रित नहीं है उसे सफलता का आधार बिल्कुल नहीं मानिए शब्द इसलिए है ताकि हम अर्थ की भावना कर सकें क्योंकि हमारा भाषा का व्यवहार ऐसा है हम शब्द जानते हैं सुनते हैं उसके आधार पर अर्थ तक पहुंचते हैं शब्द अर्थ तक पहुंचाने के लिए है नहीं तो शब्द का कोई मूल्य नहीं है जिस भाषा को हम जानते हैं उनके शब्दों को बोलते सुनते अर्थ अभ्यास पश्चात आता है इसलिए वो सार्थक है कोई विदेशी भाषा जिसका हम कुछ भी ना जानते हो उसके शब्द बोले जाएं सुने जाएं उसका कोई भी मतलब नहीं है उसके लिए हो सकता है जो उसके अर्थ को जानता है उन शब्दों से जो अर्थ तक पहुंच सकता है उसके लिए महत्व है हमारे लिए कोई महत्व नहीं है कुछ भी महत्व नहीं है इस भाषा व्यवहार से भी हमें पता लगता है कि शब्द किस लिए होते हैं अर्थ तक पहुंचने के लिए होते हैं कुछ बोध कराने के लिए होते हैं कुछ ज्ञान लेने देने के लिए होते हैं शब्द केवल माध्यम है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है उसको हे नहीं समझना है लेकिन वो साधन है साध्य कुछ और है यही बात उपासना ध्यान के समय अच्छी तरह से समझ के रखनी चाहिए तो बोल के जप करने से फिर उपांशु जप पे आता है उपांशु से मानसिक जप पे आता है मानसिक जप श्रेष्ठ है ये सोच करके प्रत्येक साधक सीधे मानसिक जप पे चले जाए और उसको लाभ होगा ऐसा भी आवश्यक नहीं है प्रत्येक साधक को अपनी अपनी स्थिति के अनुसार परीक्षण करना चाहिए मेरी सर्वाधिक एकाग्रता कब बन रही है बोल के बन रही है तो बोल के करें कोई आपत्ति नहीं है अर्थ की भावना भी रखें एक समय आएगा जब आप उपांशु करने लग जाएंगे जब आपको ये लगने लगेगा बोल के करने से एकाग्रता कम है उपांशु से एकाग्रता अधिक आ रही है एक समय वो भी आएगा जब आपको उपांशु जब लगने लगेगा और आप मानसिक जप में चले जाएंगे मानसिक जप में भी शब्द का उच्च, मानसिक उच्चारण जब हम कितनी बार कर रहे हैं वो भी भिन्न भिन्न होता है जैसे बोलते समय एक मिनट में साठ बार या एक बार हो सकता है ऐसे ही मानसिक रूप से भी एक मिनट में साठ बार या एक बार हो सकता है जैसे जैसे अर्थ की भावना प्रबल होती जाएगी मानसिक जप में भी शब्द का उच्चारण कम होता चला जाएगा आगे चल करके ये भी स्थिति आ सकती है कि केवल एक बार ओम का उच्चारण किया और पूरे घंटे अर्थ की भावना में डूब गए कोई आवश्यकता नहीं है जब जब अर्थ तक पहुंचाने के एक व्यक्ति साइकिल चला रहा है पैरों को चलाता है पैडल चलाता है घुमाता है बल लगाता है उसे ये बता दिया है कि पैडल चलाओगे तभी आप आगे बढ़ोगे ठीक भी है क्योंकि वो चलाना बंद करते हैं तो गति नहीं होती है लेकिन यदि खूब बल लेकर के चलाया और गति इतनी तेज हो गई ढलान है कि गति तेज भी हो गई क्या तब भी आप पैडल चलाएंगे नहीं चलाएंगे उस स्वतः या तो कम हो जाएंगे या कारण क्या अभी हमने साइकिल को चलाना पैडल मारने से ही तो साइकिल चलती है और पैडल मारना क्यों बंद कर दिया क्योंकि साइकिल बिना पैडल मारे भी चल रही है पैडल मारना प्रयोजन नहीं है साइकिल का आगे बढ़ना प्रयोजन है इच्छा के अनुसार और यदि कोई पैडल पे ही जोर देने लगे जो केवल जब पे जोर देते हैं वो ऐसे बन जाते हैं यूं समझिए कि गाड़ी चल रही है भले ही चल रही है कैसे भी चले उसको तो बस पैडल मारने है जोर से जितनी जोर से मारो उतनी जोर से चलेगा गति हो रही है नहीं हो रही है कोई चिंता नहीं है भले ही गाड़ी खड़ी है लेकिन पैडल मारना है लेकिन नहीं जब अर्थ की भावना के लिए है जब सहायक है लेकिन लक्ष्य नहीं है साधन बात अब आप संध्या पे लगाइए संध्या में बहुत से मंत्र हम बोलते हैं मंत्र का उच्चारण किस लिए क्या वो मंत्र वेद में है इसलिए महर्षि दयानंद ने हमारे को समायोजित करके दे दिए हैं इसलिए उनका प्रयोजन है अर्थ की भावना जिससे कि मन पर इष्ट इच्छित अपेक्षित संस्कार डलते जाएं, डलते जाएं, डलते जाएं। तो व्यक्ति जब अर्थ सहित संध्या करता है तो अधिक लाभ होता है किंतु जब अर्थ भी बार बार बार बार वैसा का वैसा बोला जाता हुआ मंत्रवत ही बन जाता है अब वो अर्थ सहित संध्या नहीं कहलाती शब्द का उच्चारण और अर्थ अर्थ का मतलब है उस अर्थ की भावना तदर्थ भावनम भावना बननी चाहिए अंदर ओम शब्द का अर्थ सर्वरक्षक हमने बोल दिया एक भिन्न शब्द में उसको बोल दिया धियो यो न प्रचोदयात को हमने भिन्न शब्द में अपनी भाषा में ले लिया मेरी बुद्धियों को प्रेरित करें हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग पर प्रेरित करें शब्द आ गया अर्थ कर लिया भाषा में और वो भाषा भी हमारी परिचित है लेकिन उस पंक्ति को बोलते हुए उसका भाव यदि हम नहीं ले पा रहे हैं अपनी भाषा का शब्द वाक्य भी व्यक्त है जैसे हमारा मन कहीं और लगा और तो सामने हमारी मातृभाषा में ही किसी ने हमें वाक्य बोला उस वाक्य का कोई अर्थ नहीं आएगा हम समझ नहीं पाएंगे मन कहीं और है भाषा को जानते हैं इसी प्रकार से संध्या के मंत्रों का अर्थ बोलते हुए रटा हमने स्मरण कर लिया इसलिए वो चलता रहेगा यंत्रवत और मन इधर उधर जा रहा है इसे अर्थ की भावना नहीं कहते और इससे लगभग वैसे ही व्यर्थता होगी जैसे केवल मंत्र से हो अर्थ की भावना का मतलब है अनुभव करना जिस समय हम ओम बोल के उसके सर्वरक्षक शब्द को अर्थ को बोल रहे हैं तो ये अनुभव करना चाहिए कि ईश्वर सर्वरक्षक है सर्वरक्षक है तो कैसे है उसके साथ साथ अपने से उसे जोड़ के देखना चाहिए ईश्वर सर्वरक्षक है सबकी रक्षा करता है व्यक्ति संबंधित बात पे जितना अधिक गंभीर हो सकता है उतना दूसरी बात पे नहीं हो सकता ईश्वर सर्वरक्षक है मेरी भी रक्षा कर रहा है कैसे रक्षा कर रहा है ये बोध उस समय आना चाहिए तभी तो ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा भक्ति बने ईश्वर को यूं न्यायकारी कहने वाले अपने से बिना जोड़े बहुत व्यक्ति हैं उससे अंतर नहीं आता है ईश्वर को मैं सर्वरक्षक मान रहा हूं या नहीं ईश्वर को न्यायकारी मान रहा हूं या नहीं ये कसौटी मेरा व्यवहार है क्या कर्म करते समय मैं ईश्वर को न्यायकारी मान के चल रहा हूं ईश्वर को सर्वरक्षक मानते हुए ईश्वर से कामना करते हुए कि मुझे संयो रभिस्रवन पुनः आपका कल्याण मेरे लिए विद्यमान रहे कामना तो कर रहे हैं लेकिन परमात्मा के कल्याण कृपा को जो कि अभी तक हमारे पास में है मिल चुकी है उसका कितना उपयोग आध्यात्मिक प्रगति के लिए मैं कर रहा हूं ये भी देखना होता है प्रतिदिन दोनों समय ये बोल लेना कि संयो रभिश्रवंतु तो न आपो भवंतु तो बीतये परमात्मा तो अपनी तरफ से कर ही रहा है ये हमारे पे संस्कार डालने के लिए है हमें वहां प्रतिदिन दोनों समय ये देखना होता है कि पिछली उपासना से लेके इस उपासना तक मैंने परमात्मा की कृपा का जो कि विद्यमान है सिद्ध है कितना उपयोग किया और कितना दुरुपयोग किया यदि मैं पूरा उपयोग नहीं कर पाया हूं तो प्रार्थना बनेगी कि आपकी इस कृपा का मैं उपयोग कर सकूं ऐसी शक्ति सामर्थ्य दीजिए हम कैसे परमात्मा को कह सकते हैं कि मुझे और दीजिए एक जागरूक साधक ये कैसे कह सकता है कि मुझे और दीजिए जबकि उसे पता है कि मैं परमात्मा के दिए हुए का पूरा उपयोग अभी नहीं कर रहा हूं परमात्मा ने जो बुद्धि दी उसका पूरा उपयोग आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं कर रहा हूं परमात्मा ने जो शरीर दिया है उसका पूरा उपयोग आध्यात्मिक प्रगति के लिए जीवन की सफलता के लिए नहीं कर रहा हूं अधिक बल और अधिक सामर्थ्य की वो कामना कर कैसे सकता है सच्चे साधक के मन में ऐसी प्रार्थना उठेगी ही नहीं उसको रुकना पड़ेगा वो रुक जाएगा क्योंकि ये प्रार्थना बिना पुरुषार्थ के की जा रही है बिना पुरुषार्थ के प्रार्थना शब्दों को बोलना कोई अर्थ नहीं रखता है छोटी सी बात है लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जिसकी ओर स्वामी दयानंद जी ने हमें संकेत किया उन्होंने प्रार्थना माना ही उसको जो पुरुषार्थ पूर्वक की जाती है इसलिए जब हम संध्या के मंत्र उनका अर्थ उसकी भावना और उस भावना को अपने साथ जोड़ करके करते हैं प्रतिदिन हर उपासना भिन्न भिन्न होगी हो सकता है किसी दिन मैंने कुछ अच्छा किया हो किसी दिन कुछ बुरा किया हो वो प्रतिदिन हर व्यक्ति का नया नया होता है प्रातःकाल की उपासना से लेकर सायकाल तक जो अच्छा किया है और जो बुरा किया है उसके लिए धन्यवाद कृतज्ञता और शोधन के लिए पुनः प्रतिज्ञा ये बार बार की जाती है हर उपासना में और ये कभी भी दो उपासनाओं में एक जैसी नहीं हो सकती सदा भिन्न भिन्न होगी उपासना में अरुचि होने का कारण अर्थ सहित उपासना में भी अरुचि होने का कारण है एक रूपता एक रस्ता वही वही बार बार बार बार होता है धीरे धीरे बेरस हो ही जाता है लेकिन यदि इस प्रकार से जीवन के साथ में जोड़ दिया जाए इसको तो प्रतिदिन की उपासना अलग होगी जब ओम वाक वाक भी बोलेगा वो छोटा एक ही शब्द है दोनों बार बोलते हैं संध्या में परमात्मा की कृपा को भी अनुभव करेगा उसने इसे बलवती बनाया है हम बोल पा रहे हैं समर्थ हैं उस वाणी का मैंने दिन भर कितना सदुपयोग किया कितना दुरुपयोग किया सदुपयोग किया तो और अब कितनी अच्छी वाणी मुझे चाहिए और कैसी संयमित वाणी चाहिए और कैसी परिशुद्ध परिमार्जित वाणी चाहिए उसकी कामना अब इच्छा पैदा होगी वाणी का उपयोग हम ढंग से कर नहीं रहे हैं और कामना है मेरी वाणी इतनी इतनी अच्छी बन जाए तो बहुत दूर की बात है जहां तक हमने किया है उससे अगले की कामना स्वतः आएगी वो वास्तविक इच्छा होगी हमारी तब जो प्रार्थना निकलेगी वो हमारी आवश्यकता से जुड़ करके होगी कल्पना में नहीं होगी और ऐसे में परमात्मा आगे आगे हमारी सहायता स्वतः करता चलता है हम एक कदम बढ़ते हैं तो आगे का वो हमको दिखाता है बाहर का कोई गुरु हो या ना हो बहुत सी बातें गुरुओं से पता लगती हैं शास्त्रों से पता लगती हैं लेकिन फिर भी बहुत कुछ हम जान चुके हैं अब यदि ठीक ढंग से चलते रहें तो गुरुओं का भी गुरु वो परम पिता परमात्मा स ऐसे पूर्वे शाम अपनी गुरु काले न मैं श्री पतंजलि को स्वीकार करना पड़ा हुआ ये धर्म बताया उन्होंने कि वो कौन है ओम गुरुओं का भी गुरु जो काल से बाधित नहीं होता जो सदा से गुरु था है और रहेगा क्या उसकी सहायता हम नहीं लेना चाहते क्या वो हमारे को सहायता नहीं देगा जब व्यक्ति करने लगता है और आगे के रास्ते उसको अपने आप दिखने लगते हैं करेंगे ही तब उसको ईश्वर पे और अधिक और अधिक विश्वास होता जाता है बढ़ता जाता है और इसके आधार पे वो और अधिक गंभीरता से अर्थ की भावना आचरण करता जाता है क्योंकि तो उसे पता है ऐसा करने से मुझे मिलने लग रहा है वैदिक ज्ञान के रूप में आध्यात्मिक साधना के रूप में हमें बदलना है तो शब्द उसका अर्थ अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है भावना उसे प्रमुखता से रखना है हो सकता है आगे चल करके केवल एक मंत्र पे आपकी पूरी संध्या निकल जाए अनेक व्यक्तियों के मन में ये बात पूरी संध्या होनी चाहिए होनी चाहिए लेकिन आज जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पूरी संध्या की छोड़ दीजिए वो अर्थ की भावना इतनी गहरी करने लग जाता है और उसी में रत रहता है कि एक ही मंत्र उसका निकल जाएगा पूरे एक घंटे में और आगे बढ़ेगा तो पूरा मंत्र नहीं एक ही शब्द पे पूरा घंटा निकल जाएगा उसका इतनी गहरी अर्थ की भावना पे वो पहुंचता है सामान्यतः इसकी कल्पना नहीं कर सकते लेकिन जो करते हैं उन्हें पता लगता है कि ऐसा हो सकता है और एक शब्द पे भी टिका रह करके उस शब्द के अनेक अर्थों पे वो नहीं जाता फिर एक शब्द के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं व्यापक चिंतन हो सकता है शब्द तो एक ही है लेकिन उससे संबंधित चिंतन बहुत व्यापक होता है वो बहुत सारी अर्थ की भावनाएं ना करते हुए किसी एक ही भावना पे टिक जाते और कभी ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि उसको किसी शब्द की आवश्यकता ही ना हो क्योंकि वो सीधे अर्थ की भावना पर केंद्रित हो रहा है अर्थ की भावना बनी ही है उसकी सीधे अर्थ पे जा रहा है शब्द तो माध्यम था अब उस माध्यम की आवश्यकता ही नहीं है जिस स्थिति पे पहुंचाने के लिए वो शब्द था उस स्थिति पे वो पहुंचा हुआ है अब उससे उतर करके वो नीचे आए कोई प्रयोजन नहीं है यदि ढलान आ चुका है साइकिल चल रही है अब कोई इस नियम को लाए कि नहीं पैडल तो मारना ही है तो ब्रेक लगा करके पहले गाड़ी रोके और फिर पैडल मारे क्योंकि पैडल तो मारना है निष्प्रयोजन है साइकिल के संदर्भ में हम इसको अच्छी तरह समझते हैं ये कोई बुद्धिमानी नहीं है कि गाड़ी चल रही है और ब्रेक लगा करके फिर पैडल मारे जाए मूर्खता हमें प्रतीत होगी है भोलापन प्रतीत होगा बिल्कुल ऐसा ही ये जप के माध्यम में है यदि अर्थ की भावना बनी है तो उसको छोड़ करके यदि आप जप पे आएंगे तो आप निचले स्तर पे आ जाएंगे कोई आवश्यकता ही नहीं है अर्थ की भावना ऊंचा स्तर है आप ऊंचे स्तर पर विद्यमान हैं तो शब्द पे मना आइए इससे आपकी उपासना में कोई न्यूनता नहीं आएगी उपासना तो है ही अर्थ की भावना के लिए और संस्कार डालने के लिए तो ये कुछ विषय जब मंत्र अर्थ इसके बारे में आपके सामने रखे अभी थोड़ी देर के लिए आप सभी बैठे वैसे प्रतिदिन संध्या में मैं इसी ढंग से करा रहा हूं और अब आप और भी अच्छी तरह से कर पाएंगे फिर भी एक अंश पे हम केंद्रित हो लेते हैं शयो रभिश्रवण तुनः प्रार्थना है आपका कल्याण मेरे और चारों ओर भरसे अपना अपना निरीक्षण कीजिएगा कि क्या मैं इस प्रार्थना को करने की स्थिति में हूं क्या मैं उन कल्याणों को पूरा उपयोग ले रहा हूं परमात्मा के सुख की वर्षा का अच्छी तरह उपयोग ले रहा हूं कितना मैंने प्रयोग किया नहीं किया तो आगे के लिए संकल्प लेना है छोटे से इस पर केंद्रित होंगे पांच मिनट के लिए बैठेंगे ओ ऐसे बहुत से साधकों को ये कठिन लग रहा होगा किंतु इसे समझ करके थोड़ा थोड़ा भी प्रतिदिन अभ्यास किया तो कुछ समय बाद में यही अभ्यास आपको सहज लगने लगेगा और यदि किसी कारण से तब आप अपने जीवन के साथ जोड़े बिना कभी संध्या करेंगे संध्या करके उठेंगे तो आपको ये लगेगा कि मैंने संध्या ही नहीं की कमी लगेगी ये अर्थ की भावना उससे जीवन में परिवर्तन उससे संध्या में सतत रुचि ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति ये जो सारी स्थितियां हैं ये जब प्रतिदिन बनेगी इसको करने से और उस सुख शांति को संतोष को आप अनुभव करेंगे तो जब इसके बिना आप करेंगे संध्या ध्यान आपको खालीपन लगेगा और ये बहुत सरल और सहज हो जाएगा आगे चल के साधना में जब हम इस तरह से विचार करते हैं अगली उपासना में फिर हमें वो सोचना होता है आज उपासना में सोच लिया कि मैंने ईश्वर की कृपाओं का पूरा उपयोग नहीं किया तब तो कैसे प्रार्थना लेकिन भावी संकल्प के साथ भावी पुरुषार्थ के संकल्प के साथ प्रार्थना की जा सकती है एक है पुरुषार्थ करके प्रार्थना करना यदि किसी कारण से किसी विषय में हमने पुरुषार्थ नहीं किया है तो भावी पुरुषार्थ के संकल्प के साथ भी प्रार्थना की जा सकती है अब फिर अगली उपासना में बैठे दिन भर तो भूले रहे उससे संबंधित प्रयत्न को अब फिर प्रार्थना का अवसर आया अब फिर पुरुषार्थ पूर्वक उपासना करनी है तो पुरुषार्थ तो किया नहीं है फिर भावी संकल्प के साथ प्रार्थना करेंगे कितने दिन साधक का मन खुद अपने प्रति ग्लानी से भरेगा मैं प्रतिदिन यही करता हूं प्रति संध्या में करता हूं कि अब आगे करूंगा अब आगे करूंगा उसको फिर दिन में ध्यान रहने लगे नहीं इस विषय में मुझे प्रयत्न करना है परमात्मा से अघमर्षण की प्रार्थना में कर रहा हूं किंतु दिन में कोई प्रयत्न नहीं कर रहा पाप को हटाने का पाप से बचने का तो उपासना में ईश्वर को क्या मुख दिखाऊंगा मैं किस स्थिति में मैं प्रार्थना करूंगा कब तक भूलेंगे एक बार दो बार अंतरात्मा स्वीकार नहीं करेगी या तो आप संध्या से भाग जाएंगे उठ जाएंगे संध्या नहीं करेंगे वो झंझट लगेगा और यदि साधना का भाव अंदर है आप थोड़े भी सच्चे साधक बन गए हैं तो संध्या तो करेंगे लेकिन इस कष्ट से बचने के लिए फिर दिन में उससे संबंधित पुरुषार्थ भी करने लगेंगे पहले थोड़ा करेंगे अधिक करेंगे फिर स्थिति बनी रहेगी और प्रतिदिन उपासना में बैठने से पहले विश्वास रहेगा कि आज फिर मैं परमात्मा से प्रार्थना कर रहा हूं मैं पुरुषार्थ पूर्वक कर रहा हूं मैं प्रार्थना करने का अधिकारी हूं और नहीं तो दिन भर अगर कुछ नहीं किया है तो उपासना में बैठने से पहले डर लगेगा मैं ईश्वर को कैसे मुंह दिखाऊंगा कैसे प्रार्थना करूंगा तो ये प्रक्रिया यदि हम साथ में जोड़ लें भावना को जीवन के साथ में पुरुषार्थ पूर्वक प्रार्थना प्रत्येक उपासना हमारी नई होगी नए दोष सामने होंगे जिन्हें हमें हटाना है प्रतिदिन नए संस्कार होंगे पूरा आकलन रहता कि अभी इस विषय में और संस्कार डालने हैं क्योंकि आज इस क्षेत्र में कुछ भिन्नता दिखी आज इस बड़े आलंबन के आने पर मेरे में ये दोष उभर करके आ गया है पता नहीं और आज उपासना में मुझे क्या करना है ये भी उसको पता रहेगा पूरा योजना उसके सामने रहेगी आज ये करना है आज इसको करने की आवश्यकता है और फिर लालयित रहेगा कि नहीं मैं करूंगा आज ये तो करना है तो तत्पस तदर्थ भावनम इस छोटे से सूत्र का जो संकेत है संदेश है ये पूरी ध्यान पद्धति के लिए बहुत से लोग इस ध्यान पद्धति का इसलिए खंडन करते हैं इसमें शब्द का सहारा लिया जाता है मंत्र का सहारा लिया जाता है इस शब्द और मंत्र का सहारा व्यर्थ नहीं है सब प्रयोजन है इसी से हमारे अंदर संस्कार टलेंगे इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं प्रभु का स्मरण करेंगे तीन बार ओम का उच्चारण पहले आके स्थान ग्रहण कर लें ओम शो